Thank you thank you Divya ji ये कंग्रेचुलेशन अरे क्या कर रही है भारती क्या है thank you thank you congratulation बड़े हो गए अगस्त बादशाह सब man congratulation thank you trailer hit गाने हिट सारे बट दिव्या भूषण जी ने एक भी गाना नहीं लिया मेरा फिल्म में यार बादशाह ये तुम्हारे टाइप की पिक्चर है ही नहीं हाँ। मेरे टाइप की मतलब Sanam Re pure love story है बाकियों में मिलावट होती है प्योर लव का क्या मतलब है वही जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा अरे यार अब तो फिल्म भी रैप होगी इसी बहाने कोई रैप सॉन्ग कर लेते हैं दिव्या सॉरी बादशाह आई डोंट थिंक इस बार तुम्हारा गाना हो पाएगा मैं तो कहती नेक्स्ट फिल्म में आप गाना करना और मैं बनूंगी आपकी आइटम गर्ल अक्कर पक्कर बम्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कर पक्कर बम्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कर पक्कर बम्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने हॉली हॉली पी के बस पैक दो तू ऐसे क्यों है डोली कुड़िया द गैंग ते मुंडिया दी टोली काफी कुछ होगा बट स्लोली स्लोली नाच नाच के थक गया हूँ दारू पी के अग गया हूँ मुझको नींद आ रही है साथ में अपने सोने दो पकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अकड़ पकड़ बम्बे वो किसी पे पूरे सो रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो तो जैसे कैंची आई हूँ तू मीटर मेरा हिल गया तो कान के नीचे दूंगी दो पकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ टाटा वाई वाई कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड का पकड़ बकड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सौ टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड का के बच गए पौने दो जो होता है होने दो